आगे कोई पीछे चल रहा है किसका कितना विवेक वैराग्य होगा उसके ऊपर निर्भर है तो कितना वो आगे चलेगा गाड़ी उसकी नहीं तो ये सब के सब परोक्ष ब्रह्म ज्ञान वाले में ही तारतम्यता चल रहा है तो दुष्ट देश का कामा तो जन्म हेतु तो विनाशात न जायती प्राय इसलिए कहते हैं कि देखो ऐसा वो ब्रह्म जिसकी विद्या जिसकी जो है ज्ञान से व्यक्ति की सारी कामनाएं जड़ सहित नष्ट जब हो जाती है उसके लिए सभी प्रयास करते होंगे लेकिन जैसे यहाँ अभी देख ही रहे लाखों महात्मा लगे हुए हैं इसका चक्कर में कहते लेकिन क्या करें इतना आसानी से लभ्य नहीं है नायम आत्मा प्रवचन न लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश्य वृणते तेन लभ्य तस्ता वृणते पहले कठोपनिषद में भी हमराज्य ने यही बात कहा है परिषद में भी आचार्य शिष्य को यही कह रहे हैं कि देखो ये जो आत्मा है ना अयम आत्मा न लभ्या ये आत्मा प्रकृति परम पुरुषार्थ के साधनभूत जो ये आत्मा है यह वेद शास्त्र का निरंतर पुष्कल अध्ययन करने से बहुत अध्ययन करने मात्र से प्राप्त होने वाला नहीं आप जितना अध्ययन करोगे उतनी ज्यादा आपका शब्द शब्दार्थ ज्ञान में पक्व परिपक्वता आ जाएगी लेकिन अनुभूति नहीं हो सकती अनुभूति के लिए स्वाध्याय समय श्रवण हो गया अरे पता कैसे चलेगा मेरा समय श्रवण हो गया है कि तब समझो आपका श्रवण पूरा हो गया जब आपके घूमते फिरते वक्त खाते पीते वक्त उठते बैठते वक्त हर समय वेदांत चिंतन मन में चलते रहता तो समझना आप आपको पढ़ने की सुनने की जरूरत नहीं है सर पक्का हो गया है अतएव मनन चालू हो गया और जब तक हाथ से निकलने के बाद बाहर जाते ही जगत चर्चा हो रहा है तो समझा विश्रवण हुआ ही नहीं जगत विचार में रुचि बन रही है जगत चिंतन में हम लग रहे हैं तो इसका मतलब ये वेदांत चिंतन नहीं होगा हर क्रियाकलाप में वेदांत चिंतन इस प्रकार से नहीं चाहिए दृश्य में मिथ्यात्व बुद्धिपूर्वक दृश्य के साथ अगल व्यवहार हो रहा है मिथ्यात्व बुद्धि के साथ व्यवहार हो रहा है अतः आपके ब्रह्म चिंतन ठीक चलते रहेगा जब सत्य तो बुद्धि के साथ व्यवहार करोगे तो वहां ब्रह्म चिंतन दूर होगा ये तो आप अपने आप अपना थर्मामीटर बन के देखना पड़े कोई बोल नहीं सकता है कि आपका श्रवण सम्यक हो गया कि नहीं हुआ यदि आप अपने अंदर आप टटोल के देखें कि हम ध्यान में बैठते हैं तब भी नहीं हो रहा है तो फिर बाकी टर्म तो होने का सवाल ही नहीं उठता जब आप चिंतन के लिए ही बैठ रहे हैं तब भी नहीं हो रहा है इसका मतलब सकल व्यवहार काले मिथ्यात्व पूर्व वेदांत चिंतन होता व्यवहार हो ये तो असंभव है या नहीं कम से कम पहले बैठ रहे तो सही हम एक घंटा तब आराम से ब्रह्म चिंतन चल रहे जो शास्त्र सुने हो शास्त्र सामने आवे उसका मनन हो विवेचन समय प्रकार से शब्द शब्दार्थ उनका ही विवेचन ढंग से होने लग जाए वो भी जब ना हो फिर प्रसंगी नहीं उठता जो बोल रहे हैं तो शब्दार्थ भी ठीक से ग्रहण नहीं हुआ है तो मरण क्या होगा तो इसलिए कहते हैं कि भाई केवल रट्टू विद्या ये नहीं है वेदांत जो है कर्मकांड रट्टू विद्या है उपासना भी रट्टो विद्या है बिना रटे काम चले गए नहीं वहां थोड़ी पुस्तक उठा गया नमन तो ढूंढ के स्वाहा अगला क्या स्वाहा ऐसे थोड़ी चलेगा वहां तो नहीं चलने वाला है वहां तो पूरा रट्ट विद्या का काम लेकिन ये तो अपनी ही कहानी है ना यह रटने की जरूरत नहीं है यह अपने स्वरूप की कहानी है यदि समझ में आ जाए एक बार मैं क्या हूँ तो रटने की क्या जरूरत है इसे रटे भी नहीं आना चाहिए कि मैं क्या हूं समझ में आ जाए श्रवण तब पाना जाएगा आप हाँ, पक्का हो गया मामला बिना रटे श्रवण करते करते आपको जो है जो अगले मंत्र में आगे कहेंगे वेदांत विज्ञान सुनिश्चित अर्थ आपके अंदर सुष्ठ रूपेण अर्थ का निश्चय हो जाए कि मैं ब्रह्म और जगत में क्या ये तो होना है कुछ होना नहीं है निश्चय इतना ही होना है होगा क्या इससे अतिरिक्त कुछ नहीं होना छह सौ साल वेदान सुन लो बात अंत में यही निर्णय होगा कि मैं वह ब्रह्म हूं और जगत मिथ्या है दृश्य है इस दृश्य का सगल व्यवहार का बाधा साम्राज्यकरण वृत्ति इसको कहते हैं बाधा साम्राज्यकरण वृत्ति यही है कि सकल व्यवहार होते वक्त हमारा ब्रह्म स्वरूप में कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपने स्वरूप निष्ठा में फर्क ना होते हुए सारी वृत्तियों के दृश्य रूपेण अहंता ममता कर्तृत्व भक्तृत्व जो भी हो रहा है इस दृश्य के साथ सब कुछ आपके लिए दृश्य बन जाता है अहंता ममता भी दृश्य कर्तृत्व भक्तृत्व भी दृश्य बन जाए वो स्थिति में पहुंचना वो बाधा सामान्य अनुवृत्ति है कुंभ निध्यासन में आएगा लेकिन उससे पहले मरण के लिए आवश्यक है कि बहुत प्रवेशवन इसलिए कहते हैं कि वो जो आत्मला बना केवल वेद शास्त्र के पुष्कल प्रवचन मात्र से प्राप्त होने वाले योग्य नहीं है न मेद या ग्रंथ धारण ये आगे घट करके ग्रंथ को धारण कर लिया कहीं से पूछ लो फटाफट बोलने का तैयार सामर्थ्य है ग्रंथ को धारण करने की क्षमता है वो भी फायदा नहीं है मेधा शक्ति होना जरूरी नहीं है प्रज्ञा शक्ति होना जरूरी है ऋतम्बरा प्रज्ञा ऋतम्बरा मेधा नहीं कहा मेधा तो शब्दमयी धारण करने की क्षमता का नाम मेधा है प्रकृष्ण रूपेण ज्ञान को ग्रहण करने का स्वभाव का नाम प्रज्ञा है हमें प्रज्ञा की जरूरत है मेधा हो या ना हो जाने दो मेधा को रख के क्या करना जिसको बड़े स्टेजों पर धड़ाधड़ शास्त्रार्थ करनी हो भाषणबाजी करनी हो उन्हें मेधा की जरूरत है सारे श्लोक याद रखना जरूरी है नहीं तो लोग कहेंगे भाई क्या प्रवचन दे रहा है इसका आधा श्लोक भी ठीक से नहीं बोलना आ रहा याद ही नहीं है इसको लोग तो यही कहेंगे ना उसको याद नहीं इसे जिनको प्रवचनबाजी करनी है उनको मेधा शक्ति की जरूरत है जिनको आत्मानुभूति करनी है उनको प्रज्ञा शक्ति की जरूरत है हर क्षण प्रज्ञा शक्ति का स्मरण हो इसलिए स्फूर्ति शक्ति विशिष्ट प्रज्ञा शक्ति स्फूर्ति शक्ति विशिष्ट प्रज्ञा शक्ति जिसके पास है वो समझो आप अनुभव कर लेगा इसी को कथा में दूसरे से दृश्य तो बुद्धि वो अग्रिया बुझिया वह अग्र बुझन तीक्ष्ण बुद्धि वह तीक्ष्ण तात्पर्य यही है स्फूर्ति से युक्त प्रज्ञा शक्ति होनी चाहिए है मेरा कोई जरूरी नहीं है नहीं स्फूर्ति होना प्रज्ञा के उसे ग्रहण करने के लिए उसकी स्थिरता लाने के लिए हर समय स्पूर्ण होना चाहिए आम ब्रह्मास्त्र जगन मिथ्या स्पूर्ण शक्ति से करते यानी जब सुन रहे वेदांत तो ब्रह्मास में हो गए यहाँ पाठ जब तक चल रहा है ठीक है भाई सुन रहे हो उसके बाद स्पूर्ण है ही केवल प्रज्ञा भी तब बेकार हो जाती है वो प्रज्ञा का भी दुरुपयोग हो जाता है प्रज्ञावान पुरुष को भी अपनी प्रज्ञा शक्ति का दुरुपयोग कर लेना लेकिन साथ स्मरण शक्ति रहेगा ना तो वो विवेक को बरकरार बनाए रखता है स्मरण शक्ति से विवेक ठीक रहेगा प्रज्ञा शक्ति से राज्य ठीक रहेगा कि तो दोनों के माध्यम से आत्मानुभूति होगी और मेधा शक्ति ना विवेक लाता है ना वैराग्य लाता है मेधा शक्ति से विवेक भी नहीं होगा वैराग्य भी नहीं होगा यहां रख लिया सारा उपनिषद याद है भाष्य कंठस्थ है भागवत कंठस्थ है उसी का अहंकार देखो मेरे को सब कंठस्थ है मेरे बराबर कोई विद्वान नहीं उल्टा अहंकार पैदा कर देगा मेरा शक्ति खतरनाक चीज है होता था हम लोगों को भी पहले जब अष्टाध्याय रटते थे एक एक दिन में अस्सी अस्सी सूत्र वार्तिक के साथ गण सहित सब सुनाते थे प्रसन्न हो जाते थे छोटे हमारे तो हम लोगों को भी घमंड होते थे देखो ना वो तो क्या तो साठ भी नहीं कर पाया अरे तो चालीस भी नहीं कर गया कैलाश तो सबसे टॉप नहीं हूँ तो विवेक कहा था पहले केवल अष्टाध्याय नहीं रटते थे साथ में लघु भी रट रहे हैं तरसंग्रह भी रट रहे हैं अर्थसंग्रह भी रट रहे हैं चार ग्रंथ रट के सुना रहे हैं नियम है था अस्सी सूत्र अष्टाध्यायी वो भी वार्तिक और गण जिसमें है वो गण सहित सुनाना सात से अस्सी सूत्र से कम कभी नहीं लघु सिद्धांत कम नहीं दस से पंद्रह सूत्र वृत्ति रूप सहित और तंग भी कम से कम चार पन्ने और अर्थ संग्रह दो पन्ना सुना इतना सुना तो तो मेधा शक्ति तो तगड़ी थी तो अहंकार वो ऐसे ही था वो भी बहुत बलवान था किसी को समझता ही नहीं था वो बाकी विद्यार्थियों को कैलाश में गया जो बनारस से आते थे तो उनको फटकार देते तुम क्या जानते अरे बनारस पट रहे बेवकूफ है अकल कुछ है नहीं बताओ इसका क्या होता वो बेचारे घबरा जाते थे और अहंकार बढ़ जाता था हम मजा आता था फिर बाद में अकल आ रहे मूर्खता तो मजा क्या था वो तो मूर्खता धीरे धीरे समझ में आई तो फिर सब अहंकार अपने आप छूटते जाता है अब समझ में आता है मेधा शक्ति तो आदमी को उल्टा चक्कर चक्का फंसाने वाला है समझ में आना जब प्रज्ञा शक्ति क्या है मेधा शक्ति क्या है स्फूर्ति शक्ति क्या है प्राथिव शक्ति क्या है योग सूत्रकार में जो प्रातिभंग ज्ञान इनके अंतर तक समझ में आता है जब आप अनुभव की ओर आगे बढ़ते जाते ये तो फर्क कुछ नहीं समझ में आता है इधर यहां पर कहते न मेधया न बहुला श्रुते बहुत श्रवण करने मात्र से नहीं चलेगा कि श्रवण एक ही बार है श्रवण बारंबार की जरूरत नहीं होती है यदि श्रद्धा है तो श्रद्धा की कमी के कारण से श्रवण अधूरी रह जाता बार बार सुनना बार बार सुनते रहता है वो कभी पछता नहीं कारण यही है कि श्रद्धा का अभाव है जितने सुनने आते हैं बात सर में श्रद्धा नहीं होती हमने ओंकार ऐसे में देखते थे हम लोग मुख्य तो पांच विद्यार्थी थे श्रवण करने वाले फिर ओंकारेश्वर में जहाँ महाराज जी रहते हैं तो तीस पैंतीस जो भी रहने वाले सब बैठ जाते सुन हम ऐसे वो किसी को ना सर का पता ना पूछ का पता अब भी बात तो हम भी सुन रहे हैं लोगों कैसे मालूम होगा कि मैं भी कुछ प्रश्न पूछूंगा अब कुछ भी उल्टा पुलटा पूछ देंगे सारा पाठ को खराब कर देंगे अब क्या करें कहाँ से तो छह सौ भारत आगम पहना नहीं क्या ये सब तो वटान है ये तो हाथ रंगे कल चले जाएंगे अपने आइडेंटिफिकेशन दिखाना चाह रहे मैं भी सुन रहा हूँ अरे हाँ भाई देख लिया हाँ, तुम भी बोल रहा ठीक है बैठो क्या कर उसकी चेहरा देखेगा संतुष्ट नहीं होता तो फिर प्रश्न पूछेगा हम लोग को उनको देखना जरूरी है हम करे पूछा और आगे पर बाहर जाते हम बोलते थे आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा तो कल से पूछा जाने आइडेंटिफाई हो गया उसकी अहंकार संतुष्ट होकर बात करते हम भी कुछ है हम भी समझ रहे हैं अच्छा प्रश्न पूछा हूँ तो बस उसी में उसकी संतुष्टि हो गई उसके दूसरे से पूछता ही नहीं था मैंने कहा ये बढ़िया प्लान हो गया महाराज जी ने कहा हमसे एक बार जो है पांच छह महीना जब ऐसे बीत गया तो कहते क्या बात आजकल कोई पूछता ही नहीं बंगाली था उसको छोड़कर कोई नहीं पूछते थे क्या बात है मैंने महाराज सबका उन्हें संतुष्ट कर दिया ये लेकिन संतुष्ट नहीं हो रहा है तो क्या बात है कहते इसके अहंकार इतना जल्दी संतुष्ट नहीं होगा आखिरी में मछली खाया है अंतकरण तो शुद्ध नहीं है ना इसके अहंकार को तुष्ट हम करेंगे थोड़ा टाइम लगेगा फिर हमने उसका ऐसा पटरी पढ़ाई एक बार बगीचा में हम लोग जरूर फूल तोड़ रहे थे मंदिर के लिए तो ऐसा पटरी पढ़ाया उसको तो उसने कान पकड़ लिया फिर पढ़ाना ही बंद कर दिया फिर हमने हमको उसके कमरे जाना पड़ा अरे भाई ऐसे क्यों करते हो श्रवण तो जरूर करना चाहिए श्रवण करो ना वक्ता मत बनो वक्ता भी मत बनो श्रवण श्रोता जरूर बन जाओ श्रोता बनना जो सीख लिया उसको वेदांत तक जाएगा श्रद्धापूर्वक श्रोता बनो नहीं तो काम नहीं बनेगा चलो मेरे जबरदस्ती उठा के लाया उससे पीछे बैठ गया धीरे धीरे धीरे उसको समझ में आई मुझे साथ छोड़ा नहीं अंत तक उसने उसको इतना आनंद आया बाद में ना तो वो उसने साथ छोड़ा ही नहीं पूरा लघु प्रस्तांतर पूरा होने तक साथ महाराज जी बड़ा आश्चर्य तुमने क्या तीर मारा भाई महाराज जी हमने कुछ नहीं किया आपकी कृपा हो गई है उसका कल सुधर गया गुरु की कृपा में क्या सुधरता है देखिए आप चाह रहे चाहते थे ना कि ये भी बंद हो जाए इसलिए आपने जैसे प्रेरणा दिया वैसे इस, इसने अपना बाजा ने बजा दिया अब क्या करें अब वो बाजा बज गया वो अपना सही हो गया तो मुख्य चीज हमने देखा कि ये चीज ना कि तरह का न बोना बहुत सुनने मत से काम चलता है किंतु यमेव एश वृणुते यम आत्मा में एश मुक्ष हो वृणुते वर्ण कर लेता है तेन मोक्षणा एश आत्मलभ्य उसी के तरह आत्मलभ्य तस्य प्रति उसके प्रति ही एश आत्मा स्वाम तनुम विवृणुत है उसके प्रति आत्मा अपने निज स्वरूप को प्रकट कर देता अन्य के प्रति नहीं होता ये सर्वलाभा लाभ कहते कि भाई समस्त लाभों की अपेक्षा से सर्वोत्कृष्ट लाभ यदि है तो लाभ ही है ऐसा आपका कथन कहना है तो तल लाभाय प्रवचनादय उपाय बाहुल्य कर्तव्य तब तो उस आत्मा का लाभ करने के लिए अनुभूति करने के लिए कि उपनिषद विचार से अतिरिक्त हमें बहुत कुछ प्रवचन आदि उपायों को भी अवश्य ही अधिक से अधिक ग्रहण करनी चाहिए इति प्राप्त इदम उच्चते जवाब देते कि नहीं की यम आत्मा व्याख्या तो जो ये आत्मा अभी तक आपको कथन करके बताया गया है लाभ पर पुरुषार्थ जिसकी अनुभूति ही परम पुरुषार्थ माना गया है नासो वेद शास्त्राध्ययन बहु बाहुल्य प्रवचन लभ्या वेद शास्त्राध्ययन रूपी प्रवचन की अधिकता से प्राप्त होने वाला नहीं है सदान मेरे ग्रंथार्थ धारण सशक्तिया ग्रंथ के तत्व को अर्थ को धारण करने की शक्ति मात्र से भी नहीं होगा शब्द को धारण करना क्या अर्थ धारण करके भाषिकार तो एक कदम आगे जाकर बोल रहे हैं ग्रंथ का धारण करने से काम चलता नहीं बल्कि ग्रंथ के अर्थ को भी धारण कर लो तो भी निरर्थक ही रह जाता है तो बड़ी बात कहती हम सारे है कि नहीं आप तो हम उसको काट रहे अब भाष्यकार को काट मेरा शक्ति हो या ना हमने ये तो कहा उसे आगे बढ़ गया भाष्यकार रटना ही नहीं रट करके अर्थ को भी आपने रट लिया मान लिया अर्थ भी धारण कर लिया आपने उससे भी काम चलता नहीं उसका भी तो घमंड आएगा होगा क्या अनुभूति के बिना ग्रंथ धारण ग्रंथार्थ धारण सब व्यर्थ ही है ग्रंथार्थ धारण शक्तिया न बहुना श्रुते न ना भी भूय सा श्रवण ही श्रवण करने से भी नहीं चलेगा कई लोगों के अंदर रहता है हमने जो एक सौ आठ रामायण सुना है मुरारी बाबू अच्छा बोलते बड़ा गमन अच्छा है भाई सुन के क्या लाभ हुआ तो फंस जाते हैं लाभ तो समझ में अभी तो कुछ नहीं आया है क्या लाभ क्या होना था मैंने आप क्या क्यों सुनना चाहते थे तो बताओ पहले तो। क्या लाभ होना था पूछ रहे हो पहले ये बताओ किस लाभ के लिए तुम सुन रहे थे इस सवाल वो तो मजा आता था अच्छा लगता था किराया भाड़ा दे देते थे तो हम अपना चले जाया करते थे खाना पीना मजा मिलता था बहुत बढ़िया ठाट बाट था आराम से कट गया इतना साल जो हमारा और क्या चाहिए था भी हाथ धो गया इसलिए तो भाई तुम्हारे हमारे गौशाला के गाय अच्छे आराम से भी काट रहे जी बिना है घर घर चक्कर काटते घर बैठे उनको सब कुछ चोकर मिल रहा है नहीं हरा चारा मिल रहा है सब मिल रहा है पानी पिलाया जा रहा है नहलाया जा रहा है कितनी सेवा हो रही है अब तुम तुमसे तो अच्छे वो है घर कूलर लग रहे हैं पंखे लग रहे हैं गीता सुनाया जा रहा है उन्हें इतना आनंद आ रहा है रोज रोज नहीं नहीं जो सुन रहे हैं तुम तो वही मुरारी बाबू का सुना था जाता हुआ दूसरा तो सुना भी नहीं कहने का मतलब इसलिए कहते न तो न श्रुत है न व्यर्थ पूजा का श्रवण करना भी ऐसे तिथि में केवल दुर्लभ्य इत्युचत है यमेव परमात्मा मैंने परमात्मा नमेव ऐश विद्वान वहां द्वार किया था यम से यम मुक्षु जिस साधकों को यम साधकम में ऐश आता आत्मा जिस साधक को वर्ण करता है ऐसा भी अर्थ किए थे यहां पर लेकिन एक ही अर्थ कर रहे हैं जो साधक आत्मा को वर्ण करता प्राप्त इच्छति विद्वान एष विद्वान एश विद्वान यमे आत्मा परमात्मा में वृणुते वृणुते प्राप्त इच्छति तेरह वर्णेन तारस वर्ण के द्वारा वह साधक को एश आत्मा परमात्मा लभ्य है या परमात्मा लभ्य है नान्य साधनांतरीण अन्य किसी भी साधन से प्राप्त नहीं है अनुभव नहीं हो सकता है जो टीकाकार स्पष्ट करते श्रवण इसमें मामले में तो बहिर्मुखेन तो शतशोभ श्रवणादो क्रियमाण न लभ्य दे बहिर्मुख होकर के श्रवण करता है तो निरव्यर्थ हो जाता है श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत श्रवण का पूर्व में संयत इंद्रिय होना जरूरी संयत इंद्र रहेगा तो लक्ष्य में तत्पर रहेगा लक्ष्य में तत्पर रहेगा जो लक्ष्य का कथन करने वाले के प्रति लक्ष्य संबंधी ज्ञान जिनसे प्राप्त हो रहा है उसके प्रति और ज्ञान के प्रति उस शास्त्र के प्रति विद्या के प्रति पूर्ण श्रद्धा रहती है सबसे मूल जड़ श्रद्धा के अभाव का इसलिए संयत इंद्रिय असंयत इंद्रिय वाला है ना वो कामनाओं के अनुसार विक्षिप्त चित्त वाला है अत्यंत तो। एकाग्र चित्त वाला नहीं है उसके अंदर कभी श्रद्धा नहीं हो सकती चंचल रहता है काम से कभी इधर कभी इधर भगदड़ मचते रहता है मन और मन अलग अलग चीजों को छाने लगता है इसलिए श्रद्धा कैसे होगा न शास्त्र के प्रति होगी न किसी के प्रति होगी शास्त्र में ही श्रद्धा नहीं होगी उसको अरे वेदांत ऐसे ही बोलते रहता है उपनिषदों में तो ऐसे कह दिया गया है लोग ऐसे बोलते हैं विषय में कहने से क्या होता है भ्रम थोड़ी हो जाएंगे इस तरह के विचार क्यों आता है क्योंकि उनको अभी जगत की कामनाओं की इच्छा अभिलाषा अभी बनी हुई है और उनको जगत सत्यत्व तो ही अभिष्ट है इसलिए उपनिषद कथन को स्वीकार करने को तैयार नहीं तो ऐसे जो असहित इंद्रियों के लिए बात कहा जा रही सारी बात है न मेरिया न बहुना श्रुते न नायम आत्मा प्रवेश लभ्य ये सब उन्हीं लोगों की कहानी है जो असहित इंद्र होने का श्रद्धादि का भाव वाला होने से वे लोग चाहे जितना भी वेदाध्ययन करे जितना भी जो कंटक कर लें जितना भी श्रवण कर लें इसका कोई फायदा नहीं होगा अन्य साधन बहुना तो अर्थ नहीं लेना तो प्रक्षण कर दिया कि जब शास्त्रीय श्रवण शास्त्रीय धारण शास्त्रीय श्रवण से नहीं हो रहा है तो अन्य साधन से क्या हुआ कैमती कन्या जब इनसे नहीं हुआ तो अन्य साधनों से कैसे भला कोई प्राप्त कर सकता है नहीं प्राप्त कर सकता है ना तो कैमित न्याय के आधार पर कहते नान्य साधनांतरे ना ये जो व्याख्या भाष्यकार का वो कैमित न्याय से इसे नान्य साधनांतरे साधनांतर से अन्यत्व अनात्म विषयत्व अवधेयम टिप्पण कार्य इतना कहकर उस पर इसलिए स्पष्ट कर दिया कि ये जो भी अन्य साधन होगा वो विषय की होगा जो शास्त्र आत्म विषय के शास्त्र रूपी साधन से आपको प्राप्त नहीं हो रहा है अनात्म विषय अन्य साधनों से कैसे होगा इधर कैमुत्तिक न्याय को मन में धारण करके भाष्यकार ने ये बात लिख दिए कि नान्य न ये शाता परमादलभ्य अन्य साधनांत्री नित्य लब्ध स्वभाव क्योंकि नित्य लब्ध स्वरूप ही है नित्योपलब्धि स्वरूप हम आत्मा नित्य उपलब्धि स्वरूप ही है इधर साधन की तरह उपलब्ध करने योग्य है ही नहीं कीदृश वो किस प्रकार का है वो विदुषा आत्मलाभ विद्वानों की जो आत्मलाभ जो होता है वो किस प्रकार से होता है ये बताइए तस्य आत्मा अविद्या संचन्नाम स्वाम पराम तनम जो अभी तक अविद्या से ढकी हुई अपना जो स्वरूप था स्वात्म तत्व स्वरूपम स्वत तत्व जो स्वरूप था उसको विवृणुते प्रकाशयती प्रकाशित करता प्रकाश ही वो घटा प्रकाश के समान घटादि जैसे जो है घटारियों का प्रकाशन होने हो जाता है घट के आवरण को आपने दूर किया अपनी प्रकाश के द्वारा तो वह घट का आपको प्रकाशन जैसे हो जाता है उसे वो आत्मा अपने आवरण को भंग कर लेता है तो उसका प्रत्यक्ष हो जाता है विद्यायाम सत्याम आविर्भवती खाने का तात्पर्य विद्या का हो जाने पर विद्या की जो वास्तविक जो घर हो जा हो जाता है जिस जो क्षण वही क्षण उसका आविर्भाव हो जाता तस्मार अन्य आत्मलाभ प्रार्थना आत्मलाभ साधन इसलिए अन्य समस्त अनात्म त्याग के द्वारा आत्मलाभ की प्रार्थना से ही आत्मलाभ वहां का प्रार्थना को ही हम आत्मलाभ का साधन मानते हैं और कोई साधन जैसे ग्रंथ को ग्रहण करने के लिए आदमी रोता है लघु याद नहीं हो रहा थे तो बुढ़े महात्मा साठ बासठ उम्र वाले और याद करे बेचारे ना हो परेशान हो गए वो बैठ के अपने गुरु का फोटो और देवी के उपासक देवी का फोटो सब रखे हुए थे उसके सामने रोते रहते तो हे माँ कब आएगी क्या उनसे जन्म का पाप है कि अंदर घुस नहीं रहा है और वहां तो मैं आंसू आता था ऐसे नहीं रोना केवल बोलना नहीं था सुनाई भी नहीं थी इतना ज्यादा इतनी धीमी बोलते थे और मलयाली भाषा में बोलते थे हमें क्या समझ में आ गए क्या बोल रहे रोते थे बहुत अब एक दिन अचानक जो उनका ज्यादा तेज हो गया रोना हमें सुनाई दिया ऊपर घूम रहे थे वहाँ तीन शेड के बगल में ज्ञान पीठ में तो वहां सुना नहीं मैंने खिड़की से देखा वो बाबा जो है बड़ा परेशान है दीदी हमसे नहीं पढ़ते थे कहीं और पढ़ते थे तो हमने फिर भी बुलाया भाई क्या बात इतना परेशान हो लग रहा है किस बात पर हो रहे कहते तो क्या करो मारा परेशान हो ये लघु याद नहीं हो रही अच्छा चलो हम आपको उपाय बताते हैं ये उपाय करना धीरे धीरे याद हो जाएगा फिर उसने उपाय बताया उन्होंने किया कुछ खाने का कुछ करने का दोनों बताया तो करने के बाद आज जो है क्या क्या ना बैद्यनाथ में जो प्रधानाचार्य बनेंगे तो ऐसे ऐसे हो जाता है तो रोते अब ग्रंथ के लिए रो रहे हो कहना अपने आत्मस्वरूप के लिए कोई रो नहीं रहा है इस अविद्या का नाश करने के लिए कोई नहीं जो आत्मा के लाभ के लिए प्रार्थना करता है ना उसी के प्रति ये आत्मलाभ वही एकमात्र आत्मलाभ का साधन है प्रार्थना से बढ़कर और कुछ नहीं इसी प्रार्थना को दूसरे शब्दों ने योग सूत्रकार ने तीन बार कहा है ईश्वर प्रणिधानम समाधि बाद में कहा ईश्वर प्रणिधान साधना बाद में भी कहा ईश्वर प्रतिदानम नियमा के अंतर्गत है पंच नियमों में नियमा में ईश्वर प्रतिदान नियमा और विभूति पाल के समापन योग का प्रकरण आया वहां पर ही ईश्वर प्रतिदान स्वाद तब स्वादेश प्रतिदान क्रिया योग हो सूत्र एक तत्व पर तीनों अवस्थाओं में सिद्ध अवस्था हो साधन अवस्था हो चाहे साधन का फलभूत अवान्तर फलभूता हृदय शीघ्र विभूतियों की अवस्था में भी तीनों अवस्था में कहते हैं कि यदि तुम्हारा रक्षा कवच है तो एक ही ईश्वर निधान है नहीं तो वहीं फंस जाएगा ईश्वर प्रणिधान के बिना आपकी गाड़ी आगे कैवल तक पहुंच नहीं सकती इन ने पार में कहीं नहीं लिखा ईश्वर प्रणिधान है ना देखो लक्षण होता सूत्रों का विहंगम विचार करके देखते हैं तो आप विस्तार से समझ सकते हो उसके महत्व कितने प्रार्थना का कितना महत्व है ईश्वर प्रणिधान का कितना महत्व है उपासना का महत्व को बता रहे हैं आप लोग बोलते हमें वेदांत समझ में नहीं आता वेदांत अनुभव नहीं होता वेदांत याद नहीं आता कारण यह है कि उपासना का अभाव है प्रार्थना का अभाव है जिस दिन उपासना प्रार्थना परिपक्व हो जाता है तो उसी समय जो सारी चीजें आपके लिए जो ना फर्क कुछ नहीं क्योंकि अपना स्वरूप ही है अलग दौड़ी है आवा भंग न होने का कारण यही है कि उपासना का अभाव है उपासना के अभाव से प्रार्थना दृढ़ नहीं होती है मजबूत नहीं है चाहते तो सभी है सभी मुक्त होना चाहते किससे भी पूछो मुक्ति चाहता है परसों एक सेठ के साथ हम कहीं से आ रहे तो बोलता महाराज मुक्ति का साधन बताओ शास्त्र पूछ रहा है मैंने कहा मुक्ति का साधन सीधी सी बात तुम्हारे लिए वो है साधन बहुत ही सरल साधन है तुम बनी होंगे क्या साधन के पैसा मारना बंद कर दो बस खत्म दंग हो गया महाराज अपने क्या कह दिए मैंने कहा हाँ, तुम बनिया लोग साधुओं को लूटते हो ना इसे नरक में ही जाओगे मुक्ति तो मिलेगी ही नहीं तेरे को मुक्ति उस दिन मिल जाएगी जिस दिन जाते हो महात्मा को लूटना बंद कर दो मौन हो गया फिर बात यहाँ तो एक शब्द नहीं बोला है पूरा चुपचाप ड्राइविंग करके यहाँ खड़ा कर दिया एक शब्द नहीं बोला मैंने कि इन लोगों को और क्या करें नहीं तो दिमाग चाटते रहेगा बेफालतू तो का और सही बात बोलना ठीक है और सही बात बोल ही रहा हूँ महात्मा को पैसा लुट के जो जी रहे हैं हरिद्वार ऋषिकेश की बनिया कभी इनकी मुक्ति होगी क्या ये सब वापस आएंगे साधु बनेंगे यहाँ पर कोठारी भंडारी पुजारी बन के धक्का खाएंगे यहाँ जितने ये सब हैं कोई आप हमको कुत्ता बनेगा कोई कुछ बनेगा और क्या होगा बहाना पड़ेगा इन्हें जितना लिए हैं बाबाओं को लूट रहे हैं उसका दस गुना सेवा करके चुकाना तो पड़ेगा ही कहा जाएंगे मुक्ति थोड़ी होगी इनका तो सब चाहे से वाले हैं जा रहा है उसने हर्रा वाला एक जगह है देहरादून से बाहर आती ही है उसके पास यहाँ तो पूरा मौनी हो गया उसका ऐसा शौक लगा ना दिमाग सही हो गया फिर बोला नहीं आदमी को ऐसी जरूरत है आज के जमाने में इंजेक्शन देने का सीधा इंजेक्शन दे दो सही हो जाए वो हाँ बात तो दिमाग चाटेंगे नहीं तो वो कैसा वो हमें भी कहा थे उसको वेदांत सुनो महाराज वेदांत क्या होता है अभी आप बताओ फिर कौन सा पुस्तक में है और शास्त्र क्या है वो है वो दुनिया लंबी बढ़ती जाएगी न बात इसलिए पहले में ही उसको ब्रेक लगा दो ऐसे साधन बता दो जिम्मी में कर नहीं सकता इसलिए बोलेगा नहीं आगे बात सही है ना जैसे परसों हमको बोला कि महाराज हम योग सीखना चाहते हैं ये विदेशी था तो हमने कहा कि भाई योग सिखा सकता हूँ लेकिन एक शर्त है लंगोटी पक्का हो जाओगे कुछ के रहा see ब्रह्मचर्य वेरी डिफिकल्ट मैंने कहा then very difficult yoga go योगा भी वेरी डिफिकल्ट है जाओ मैंने मूर्ख है सीख के क्या करेगा वो दुकानदारी करेगा बाहर जाके तो उसके मैंने जाओ पैसा जमा करो सर्टिफिकेट मिलेगी सिखा में बहुत है मेरे पास क्यों आया मैंने भगाया उसको चलो ऐसे आते उनको एक ही बात सीधे बोल दो समझ देख लेना आदमी कैसा है उनको एक ही बात बोल देना वो अपने आप समझ लेगा हम कितने पानी में ऊपर भागेगा तो तरीका है एक तो उनको समझाना भी जरूरी इसलिए समझा भी गया ना अब में तुम्हारा वास्तविक साधन क्या तुम चाह क्या रहे हो तुम हो कहा लेकिन उसकी औकात उसे बतानी पड़ेगी ताकि वो कम से नहीं सुधरना चाहे सुधरेगा नहीं सुधरे तो वो जाने उसके काम जाने है या नहीं इसलिए कहते हैं कि भाषिकार की आत्मलाभ प्रार्थना ये आत्मलाभ साधन आत्मलाभ की प्रार्थना ही आत्मलाभ का सबसे बड़ा साधन है ईश्वर परिधान करना है स्वरूप परिधान करना स्वरूप परिधान करने स्वरूपानुसंधान के कितना अधिक समय दो भाई स्वरूप परिधान है ये नहीं बड़ी है आत्मा ऐसा चिल्लाओगे तो थोड़े होएगा <laughs> नहीं होगा आत्मानुसंधान के लिए अधिक से अधिक समय दो ये आप तो प्रार्थना है जगत चिंतन जगत का जो विवेचन जगत की प्रवृत्तियां जगत व्यवहार न्यूनाति न्यून करते जाए और आत्मचिंतन के लिए आत्मानुसंधान के लिए अधिक से अधिक समय जितना आप देंगे ये आप तो प्रार्थना हो गया आप जिसको चाह रहे हैं उसके अधिक समय नहीं देते हो आप आप जिसको चाहते हो उसको क्या करते हो बहुत समय देते हैं दुनिया में बचपन से आप अनुभव करते आए हुए हैं या नहीं माता बुला लेती भर से काम करती क्यों आप माता को चाहते हैं पिता पुता तो नहीं चाहते हैं हाँ, हाँ, ठीक है करेंगे टाल देते हैं कई बार इन माता को टालना बड़ा मुश्किल होता है वो ऐसा प्रेम के जाल फंसा देती है तो कहा टालोगे तो जिसके प्रति आप एक प्रेम भाव बन जाता है और जिसको आप चाहते हैं और जवानी में तो कहना है कि अगले वो असुर कुत्ता कुत्ती की कहानी बता दिया नहीं और यहाँ तक कारिणी जी ने भी एक ही सूत्र में जोड़ दिया स्वयं नाम थे जवान का क्या कुत्ते के बराबर होता है वो कुत्ती को चाहने लगता है तो कुत्ती का पीछे पीछे घूमते रहता है वैसे जवानों का हालत है जिस लड़की को प्यार लग जाए चौबीस घंटा वही लट्टू बने घूमते रहता है जब आप फोन करेगा बातें करेगा दुनिया भर चौबीस घंटा उसी का चिंतन में लगा तो जिसको हम चाह रहे हैं उसको हम अधिक से अधिक समय देते हैं इधर से हमारी आत्मा को हम चाहेंगे तो हम आत्मा के लिए अधिक समय दें यही आप प्रार्थना है ये आत्मानुसंधान को यहाँ पर आत्म प्रार्थना करते नायम आत्मा बलहीन लभ्यो न च प्रमादा तपसोवाप्य लिंगात इति विद्वांस तीशात्मा विशदे ब्रह्म दाम नायम आत्मा बलहीन लभ्य बलहीन आदमी के द्वारा आत्मा लभ्य नहीं है बलहीन जैसे हमारे से कमजोर ऐसा अर्थ तो नहीं समझना है शारीरिक कमजोरी से लेन देन नहीं है शारीरिक कमजोरी से मतलब नहीं हाँ बल बल का तात्पर्य आप बताएंगे इसलिए कि बल है क्या पर सामर्थ्य कौन सी सामर्थ्य शास्त्र ज्ञान आत्मा के प्रार्थना का सहायभूत कौन होगा आप आत्मा अनुसंधान में बैठ सकेंगे तभी ना जब आत्म संबंधी आपको ज्ञान होगा कुछ परोक्ष ज्ञान ही नहीं है फिर इसका चिंतन क्या करो शब्दार्थ ज्ञान भी नहीं है तो चिंतन क्या करो इसे शब्दार्थ ज्ञान रूपी जो सामर्थ्य उस सामर्थ्य युक्त आप बैठोगे तो आप तो चिंतन करोगे वही आत्म प्राप्त होगा आत्म प्रार्थना के सहयोगी साधनों का वर्णन कर रहे हैं आप पर बल अप्रमाण तक लिंग युक्तानी संन्यास सहितानी चल माता भय बल प्रहीन आत्मनिष्ठा जनित वीरहीन भाषाकार कहेंगे आत्मनिष्ठा जन्य जो शास्त्र कृत सामर्थ्य है वीर मने शास्त्र कृत जो सामर्थ्य उससे हीन के द्वारा यह प्राप्तनीय नहीं है कहते इसलिए लभ्या न च प्रमादा और प्रमाद नहीं तो प्रहार क्या जो लौकिक पुत्र पशुवादियों में आसक्ति करना ये प्रमाद है आत्माशक्ति को त्याग करके अनात्माशक्ति करना ही प्रमाद है तपसो तप बलहीन से लभ्य नहीं है ये आत्मा प्रमाद वाला पुरुष के द्वारा भी लभ्य नहीं है आत्मा केवल तप करने वाले के भी द्वारा यह उपलब्ध नहीं है आत्मा और संन्यास रहित अलिंग सकल कर्म और उपासना जो कुछ कर रहे हैं आपका लाभ के लिए उनके आंशा को त्यागे बिना ही वह आपका लाभ नहीं हो सकता अलिंगार संन्यास रूपी लिंग के बिना भी उसे रहित होकर के जो कोई भी व्यक्ति करता है वह अभी प्राप्त नहीं कर सकता किन्तु ये तीर उपाय यथो जो बल बल के द्वारा अप्रमाद के द्वारा विशुद्ध तपस के द्वारा लिंग से युक्त तपस के द्वारा करने का तात्पर्य संन्यास युक्त तप के द्वारा ही यथेयस्तु विद्वान जो विद्वान इतना करता है तस्य प्रत्येव एश आत्मा ब्रह्मदान विषद उसके प्रति ही